परम पिता परमात्मा का स्मरण समस्त साधनों के देने वाले परमात्मा ধ্বনি ईश्वर प्रेमी सज्जनों परमात्मा को विभिन्न संबोधनों से संबोधित करते हुए हम परमात्मा के स्वरूप को अपने मन में भिन्न भिन्न प्रकार से और उभारने का प्रयास करते हैं संबोधनों के क्रम में अगला शब्द है संबोधन है हे परमेश्वर्यदायक ऐश्वर्य अर्थात विभिन्न गुण संपन्नता शारीरिक गुण मानसिक गुण बाह्य वस्तुएं सुख सुविधाएं धन ज्ञान बल विभिन्न प्रकार की सामर्थ्य ये सब ऐश्वर्य के अंतर्गत आएंगे तो ऐश्वर्यदायक ऐश्वर्य को देने वाले विशेषण लगाया सकल ऐश्वर्यदायक सब ऐश्वर्यों को देने वाले ये कल हो चुका था आज ही तो परमात्मा को हम समस्त ऐश्वर्यों का देने वाला समझें एक सीमा तक हम ईश्वर के मानने वाले इन ऐश्वर्यों को देने वाला परमात्मा को मानते हैं जो ईश्वर को नहीं स्वीकारते वो तो परमात्मा को ऐश्वर्य का दाता नहीं समझते हैं जो ईश्वर को स्वीकारते हैं वे भी भिन्न भिन्न रूप में ऐश्वर्य के देने वाला परमात्मा को मानते हैं इसे दो ढंग से हम समझें एक तो परमात्मा कौन कौन से ऐश्वर्य देता है क्या क्या वस्तुएं क्या क्या गुण साधन वो देता है और इसके साथ जुड़ा है कि क्या चीज वो नहीं देता है दूसरा परमात्मा जिन ऐश्वर्यों को देता है या सकल ऐश्वर्यों को देता है तो कैसे देता है क्या देता है और यदि सब कुछ वही देता है तो कैसे देता है उसका देना किस प्रकार से हम स्वीकार करें और हमारे पास जितना भी ऐश्वर्य है हमारे पास जितना भी ऐश्वर्य है वो सारा का सारा परमात्मा का दिया हुआ है हमारा कुछ भी नहीं है ये एक साथ में दृष्टि और न केवल हमारा मेरा बल्कि संसार के समस्त मनुष्यों को प्राप्त समस्त ऐश्वर्य उसी परमात्मा का दिया हुआ है जिस जिसके पास में जितना भी ऐश्वर्य है वो परमात्मा का दिया हुआ है तो जब हम देख ये दे विचारते हैं कि परमात्मा ने क्या क्या दिया तो ये धरती सूर्य चंद्र ये भी ऐश्वर्य है सूर्य कितनी ऊर्जा प्रकाश हमें देता है एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है जैसे किसी के घर में विद्युत आ जाए बल्ब जल जाए जहां दशकों से अंधेरा रहा हो कभी बल्ब नहीं जला पंखे चलने लगे यानी विद्युत ऊर्जा की व्यवस्था हो तो ये ऐश्वर्य होते हैं कि किसी देश और राष्ट्र के प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में विद्युत पहुंच रही है प्रत्येक सड़क पर विद्युत है ये एक ऐश्वर्य है तो सूर्य का मिलना एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है और निस्संदेह इसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया नहीं व्यवस्थित किया ये पृथ्वी जिस पर हम इतने निर्भय होकर के दूर दूर तक आते जाते हैं अपनी गतिविधियां करते हैं ये अपने आप में एक बड़ा ऐश्वर्य है भले ही किसी का छोटा घर है बड़ा घर है छोटा खेत है बड़ा खेत है जितना हमारा क्षेत्र होता है धरती होती है वो हमारा ऐश्वर्य कहलाता है लेकिन राष्ट्र के रूप में और पूरी मानवता के दृष्टि से हम बहुत दूर दूर तक आते जाते हैं जंगल हैं नदी के किनारे हैं समुद्र हैं ये सब ऐश्वर्य है और भूमि के अंदर जो लोहा चांदी सोना अन्य रसायन ये सब अथा भरे पड़े हैं ये सब ऐश्वर्य है जल भी ऐश्वर्य है समुद्र भी ऐश्वर्य है ये वायु भी ऐश्वर्य है ये समस्त ऐश्वर्य परमात्मा ने प्रदान किए हैं अब इनसे अतिरिक्त और कौन सा ऐश्वर्य बचा है प्राकृतिक रूप से सारा ऐश्वर्य मूलतः परमात्मा ने प्रदान किया तो हम कह सकते हैं परमात्मा सकल ऐश्वर्य दायक है दूसरी तरफ हम अपने शरीरों को देखते हैं वहां भी बुद्धि एक अत्यंत श्रेष्ठ ऐश्वर्य है एक एक ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ऐश्वर्य है और इनकी परस्पर व्यवस्थाएं ये भी ऐश्वर्य है वो भी परमात्मा ने प्रदान किया मनुष्य का उसमें कुछ सहयोग है और जो आंतरिक ऐश्वर्य है विभिन्न गुण हैं वो भी परमात्मा की व्यवस्था से हमें प्राप्त है लेकिन जो ऐश्वर्य मनुष्य निर्मित प्रतीत होता है भवन सड़कें पुल सेतु आने जाने के वाहन भंडार खाने पीने की वस्तुएं वस्त्र बहुत अधिक वस्तुएं सुविधा के उपकरण गर्म करने के ठंडा करने के पकाने के साधन बर्तन ये सब ऐश्वर्य तो परमात्मा का प्रतीत नहीं होता ये हमारे पुरुषार्थ से हुआ है परोक्ष रूप से परमात्मा के द्वारा प्रदत्त साधनों का उपयोग करके हम इन्हें बनाते हैं इतने अंश में परमात्मा का ऐश्वर्य है लेकिन ये जो निर्मित किया गया है ये मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है जो परमात्मा को ही सकल ऐश्वर्यदायक मानते हैं वो ये इन हर चीजों को परमात्मा के द्वारा दी हुई मानने लगते हैं क्योंकि उनको यही सिखाया भी जाता है कि आपके पास जो धन संपत्ति है जो मकान है बंगले हैं गाड़ियां हैं ये सब परमात्मा का दिया हुआ है हमारी क्या शक्ति है आपकी क्या शक्ति है कि इन सबको कर सकें ईश्वर को मानने वालों में धार्मिकों में एक बड़ बहुत बड़ा वर्ग है तो ये मानता है और ये कहना अपना कर्तव्य समझता है कि सब कुछ परमात्मा का ही है मेरे पास जो धन संपत्ति है मेरे पास जो ज्ञान है मेरे पास जो बल है वो सब परमात्मा का दिया हुआ है मेरा कुछ भी नहीं है आध्यात्मिक क्षेत्र में इसको एक विनम्रता का प्रतीक माना जाता है अहंकार रहितता है ईश्वर को बहुत ऊंचे स्तर पर स्वीकारने की बात कही जाती है और ऐसा कह करके जब वो किसी को ये चीजें देते हैं चाहे धन दें या ज्ञान दें या सेवा शक्ति सामर्थ्य सुरक्षा दें और दूसरा जब व्यक्ति धन्यवाद देता है कि आपने मेरे लिए ये साधन वस्तु दी धन दिया आपने मेरे को ये ज्ञान दिया आपने मेरे को ये सुरक्षा दी तो ईश्वर को मानने वाला धार्मिक व्यक्ति सहजता से ये बोल देता है कि मेरा क्या था इसमें ये तो परमात्मा का था ये तो परमात्मा का दिया हुआ था उसमें से मैंने आपको दे दिया अर्थात ये मेरा था ही नहीं उस स्वस्वामी संबंध को मैं मेरे के संबंध को हटा करके ये बात बोलते हैं और इसको आध्यात्मिक क्षेत्र में सहायक भी माना जाता है नहीं तो यदि व्यक्ति ये कहे कि मैंने दिया है तो अहंकार होगा ईश्वर को अस्वीकारना होगा इत्यादि दोष उन्हें दिखाई देते हैं बताए जाते हैं इसलिए हमें यही कहना है कि ये परमात्मा का दिया हुआ है तो पीछे भावना ये बनी रहती है कि परमात्मा सर्व ऐश्वर्य दायक है समस्त ऐश्वर्य परमात्मा ने दिए हैं यहां हमें ये समझना और मानना अनिवार्य होगा आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो वास्तविकता है उसे उसी रूप में हम स्वीकार करें अध्यात्म या धर्म यथार्थ पे चलता है वास्तविकता पे चलता है यद्यपि इसमें हृदय को बहुत बड़ा स्थान है यथार्थ की बात बुद्धि तक सीमित रखी जाती है और हृदय भावना प्रधान है जिसमें अतिशयोक्तियां भी होती हैं अति समर्पण भी होता है एक सीमा तक ठीक है लेकिन यथार्थ तो सदैव रहना चाहिए यथार्थ रहे इसका यह भी मतलब नहीं कि केवल बुद्धि रहे और हृदय भावना ना रहे धर्म और अध्यात्म उस व्यक्ति का ठीक चल सकता है जो बुद्धि पूर्वक यथार्थ को जानता हो और यथार्थ के अनुसार भावना रखता हो ये बहुत कुछ जानते समझते भी प्राय या तो हम बुद्धि प्रधान हो जाते हैं भावनाएं कम हो जाती हैं अथवा भावनाएं अधिक हो जाती हैं और बुद्धि गौण हो जाती है यथार्थता का पक्ष उसमें से छूट जाता है तो बुद्धि का अति प्रयोग करते हुए या तो इतने यथार्थ पर केंद्रित हो जाते हैं कि भावना वहां समाप्त हो जाती है भावना को कोई स्थान नहीं देते अथवा भावना इतनी प्रधान हो जाती है कि उसमें अनेक स्थलों पर यथार्थता को छोड़ करके चला जाता है तो ये जो व्यापक प्रयोग है देने वाला ज्ञान बल धन देने वाले को धन्यवाद दिया जाता है तो वो कहते हैं कि मेरा क्या है ये तो परमात्मा का है मेरा धन्यवाद क्यों कर रहे हो ये तो परमात्मा का है परमात्मा ने दिया है इसलिए मैं दे रहा हूं ये विचारणीय बिंदु है यद्यपि इस वाक्यों को कहने वाला व्यक्ति भी इन वाक्यों की गहराई को जान और समझ नहीं पाता है स्वीकार नहीं कर पाता है उनका व्यवहार ये नहीं बताता है कि वो वास्तव में इन सबको परमात्मा का ही मानते हैं क्योंकि धन्यवाद दिए जाने पर वो भी प्रसन्न होते हैं और धन्यवाद न दिया जाए <clears throat> यथा योग्य धन्यवाद न दिया जाए तो उनके मन में थोड़ी खिन्नता आती है कि कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए ये वो वास्तविकता है जिनके अंतर्गत हम जीते हैं ऐसा हमारा जीवन बना हुआ है यदि वास्तव में ये सिद्धांत है कि सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है मेरा कुछ भी नहीं है इसमें तो व्यक्ति ऐसा मानता है तो ये प्रसन्नता धन्यवाद देने पर और धन्यवाद न देने पर अप्रसन्नता कृतज्ञता न मानने पर अप्रसन्नता नहीं हो सकती एक प्रकार के द्वंद्व में हम जीते हैं एक अंतर विरोध में हम जीते हैं एक तरफ ये सत्य भी हमें प्रतीत होता है कि मैं दे रहा हूं मैंने निर्णय किया है ये ठीक है ये गलत है यहां देना चाहिए इस व्यक्ति को देना चाहिए इस कार्य के लिए देना चाहिए इतना देना चाहिए इतना उचित रहेगा इतना कम रहेगा इतना अधिक होगा ये सब विचार किसने किया था दाता ने किया था चाहे धन दे चाहे ज्ञान दे तो कर्तृत्व तो, तो वहां पर है और ये उसको प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष को इस अनुभूति को कोई झुटला नहीं सकता और न झुटलाना चाहिए इसे झुटलाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है ये यथार्थ है हमने किसी को कुछ दिया है तो ये दायित्व हमारा है हमने दिया है और उसका पुण्य भी हम ही चाहते हैं क्योंकि देने वाला पुण्य की कामना तो करता ही है भले ही ये कहे कि ये सब परमात्मा का है मेरा तो कुछ भी नहीं है तो फिर पुण्य की कामना क्यों है पुण्य की कामना ही इस बात को बताती है कि वो अपना कर्तृत्व तो स्वीकार करता है और इसमें कोई दोष नहीं है पुण्य होना चाहिए कर्तृत्व भी हमें वैसे ही स्वीकार करना है क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे पास जितना भी ज्ञान है जितना भी बल है जितना भी धन है वो परमात्मा ने अपने पास से हमें प्रदान कर दिया है हमारे बिना कुछ किए जैसे छप्पर फाड़ करके अशरफियों की बारिश हो जाए ऐसे बस आकर के उसने रुपए हमारे पास रख दिए हमारे बैंक में डाल दिए सोने चांदी रत्न हमारे को बस चुपचाप ला करके रख दिए जैसे कोई मनुष्य किसी को दे दे ऐसे ही क्या परमात्मा ने ज्ञान जो हमारे पास में है उसको उठा करके बस हमारे यहां रख दिया है सीधा और हम सीधे उपयोग करने लग रहे हैं ये प्रत्यक्ष के विपरीत है ये वास्तविकता के विपरीत है ये ठीक है परमात्मा का अत्यंत सहयोग है कोई दो राय नहीं लेकिन आत्मा का कर्तृत्व वहां कभी नहीं झुटलाया जा सकता यदि कोई वचनों से झुटला भी रहा है तो वो दोहरा जीवन जी रहा है जब हम अंदर से भी अपना कर्तृत्व स्वीकार कर रहे हैं पुण्य स्वीकार कर रहे हैं यश की कामना कर रहे हैं तो ये वचन हम क्यों बोले इसको बोलने की आवश्यकता क्या है कि मेरा कुछ नहीं है ये तो परमात्मा का है ये ज्ञान मेरा नहीं है परमात्मा का है मैं तो केवल बोल रहा हूं मेरा है ही नहीं तो मेरे को धन्यवाद क्यों धन्यवाद तो परमात्मा का कीजिए परमात्मा का तो धन्यवाद है ही लेकिन यदि कोई हमें धन ज्ञान देता है तो उसका धन्यवाद भी तो करना है क्या ये ईश्वर का आदेश आज्ञा नहीं है जब परमात्मा देने वाले का हित करता है तो क्या लेने वाला देने वाले का हित हित नहीं करेगा उस कम से कम उसके प्रति कृतज्ञता या भावना नहीं रखेगा रखनी होती है और ये कोई अधार्मिक व्यवहार नहीं है और जब ये अधार्मिक व्यवहार नहीं है तो किसी का ये स्वीकारना कि मैंने ये सहयोग आपको दिया धन जन स्थान कुछ भी तो उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है हाँ उसके साथ में उसके मन में ये यति रहे कि ये सब मैंने मात्र अपनी शक्ति सामर्थ्य से नहीं प्राप्त किया है मेरा प्रयत्न तो बहुत थोड़ा था परमात्मा के द्वारा उपलब्ध साधनों में मैंने कुछ प्रयत्न किया और ये चीजें प्राप्त की तो जब हम इस यथार्थ को समझेंगे तो जैसा हम अंदर मानते हैं वैसा ही बोलेंगे और अध्यात्म के लिए ये एक अनिवार्य बात है जैसा हम अंदर अनुभव करते हैं स्वीकार करते हैं वैसा ही हम बोलें वहां वो औपचारिकता नहीं चलती है वो दोहरापन नहीं चलता है कि अंदर हमारे कुछ और है और वाक्य हम कुछ और बोल रहे हो जो अभिप्राय अंदर है वैसा ही अभिप्राय हम प्रकट करें बिना किसी ग्लानी के बिना किसी हीन भावना के पर चूंकि इस तरह का बोला जाता है इस तरह से समझाया जाता है ईश्वर की महत्ता को बढ़ाने के लिए क्योंकि सामान्य व्यक्ति ईश्वर की महत्ता को नहीं समझता अहंकार बना लेता है उसके उस अहंकार को तोड़ने के लिए ये कहा जाता है ये सब ईश्वर का दिया हुआ मानो तो सुन करके जिस ढंग से वो प्रस्तुत किया जाता है अथवा ठीक भी प्रस्तुत किया जाए तो सुनने वाला उस ढंग से इस बात को ले लेता है कि हमें तो सब कुछ परमात्मा का ही मानना है यदि हमने ये समझ लिया कि ये मेरा है तो ये अहंकार हो गया और अध्यात्म में बाधा हो गई परमात्मा ने स्वयं ने इन वस्तुओं को हमारे लिए दिया है हमें इसका स्वामी बनाया है हमें इसका प्रयोगता बनाया है प्रयोगता के रूप में भी हमारा स्वामित्व होता है और परमात्मा ने तो ये विविध साधन सबके लिए समान उपलब्ध करा दिए हैं अब उसका कोई अच्छा उपयोग करके संपन्न होता है उचित धर्मपूर्वक उपयोग करके संपन्न होता है तो ये उसी का उत्तरदायित्व है उसी का कर्तृत्व है इस विषय में परमात्मा की क्या दृष्टि होगी ये जो विभिन्न संपन्नताओं वाले व्यक्ति हैं बल धन ज्ञान इत्यादि वाले परमात्मा क्या सोचता होगा ये सब चीजें मैंने दी हैं ये सब चीजें मैंने जो कि तुम उठा के इनको दे दी है या इनमें रख दी है जैसे किसी अलमारी में कोई चीज रख दी जाए सोना चांदी ऐसे मैंने इनमें ये रख दिए हैं इनका कुछ भी कर्तृत्व नहीं है क्या परमात्मा ऐसा समझेगा ऐसा समझता है यदि ऐसा हो तो कोई कर्म नहीं कोई कर्मफल व्यवस्था नहीं और फिर जो भिन्नताएं हैं उसका सारा दायित्व तो परमात्मा का है और फिर परमात्मा पे अन्याय का दोष आएगा कि क्यों उसने किसी को अधिक दे दिया क्यों किसी को कम दिया जब सब आत्माएं समान थी और देने वाले आप ही थे परमात्मा कभी भी इस दृष्टि से नहीं देखता उसने आत्मा को स्वतंत्र कर्म में बना रखा है और वो हमारे कर्तृत्व को पूरा स्वीकार करता है उसी के अनुसार कर्म फल देता है तो भले ही हम समाज का कितना भी बड़ा काम करें उसमें परमात्मा का सहयोग तो अवश्य स्वीकार करें वो होना ही चाहिए किंतु अपने कर्तृत्व को हटा करके नहीं अपने दायित्व को हटा करके नहीं और यदि हम परमात्मा का ही सब कुछ मानने लगेंगे उसी ने दिया वो ही दिलवा रहा है मैं तो करने वाला भी नहीं हूं तो फिर जो दिया गया है वो अच्छा दिया गया है तो भी मेरा कुछ नहीं परमात्मा का ही दायित्व बनेगा बुरा दिया गया है या बुरे को दिया गया है उसका भी परमात्मा का दायित्व मेरा तो कोई भी दायित्व नहीं हमें करने के लिए कुछ नहीं बचेगा क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही करवा रहे हैं तो यद्यपि परमात्मा के लिए संबोधन है हे परम ऐश्वर्यदायक उच्च से उच्च ऐश्वर्य को देने वाले और समस्त ऐश्वर्य को देने वाले परमात्मा किंतु उसमें हमें अपना कर्तृत्व सदैव स्वीकार करना है जो दोष है वो भी हमने किए हैं और जो अच्छाई की है वो भी हमने की है और यदि कोई धन्यवाद हमें करता है तो उस धन्यवाद को स्वीकार कर ले सहज ठीक है मैंने किया है ये अच्छा काम किया है बिना गर्व के परमात्मा की आज्ञा का पालन किया है परमात्मा के दिए साधनों का सदुपयोग किया है आप भी यथा सामर्थ्य दूसरों का सहयोग करें जो सहयोग मैंने आपको किया इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करें ये कामना ये इच्छा हम रख सकते हैं यदि हम सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ मानेंगे तो फिर और कुछ प्रश्न खड़े होते हैं कि फिर प्रत्येक व्यक्ति के पास जो जो ऐश्वर्य है वो सब परमात्मा का दिया हुआ है जितनी धन संपत्ति ऐश्वर्य साम्राज्य है वो परमात्मा का दिया हुआ है और ऐसा बहुत से लोग मानते भी हैं और फिर वो इसलिए प्रश्न खड़ा करते हैं परमात्मा पे प्रश्न खड़ा होगा उसे दिखाई दे रहा है ये दुष्ट व्यक्ति है ये अधार्मिक है ये अन्यायी है ये शोषण करने वाला है ये गलत तरीके अपना करके धन कमा रहा है तो जब सबको ऐश्वर्य परमात्मा ही दे रहा है तो इनको भी जो ऐश्वर्य दे रहा है वो परमात्मा ही दे रहा है तो जो ईमानदार है धार्मिक है उसके मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि मैं इतने तरीके से चल रहा हूं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेरे पास बहुत कम है मेरे को परमात्मा कम दे रहा है और जो गलत तरीके से चल रहे हैं उनको परमात्मा बहुत दे रहा है जो रिश्वत लेकर के एक बार में लाखों रुपए करोड़ों रुपए ले लेता है हेरा फेरी करके करोड़ों रुपए कमा लेता है तो परमात्मा क्या इन अधार्मिकों का सहयोगी है यदि समस्त ऐश्वर्य परमात्मा का दिया हुआ है तो ये परिणति अवश्य आएगी वो मानेगा ये परमात्मा ही कर रहा है और उसका प्रतिफल क्या होगा वो ऐसे परमात्मा से विमुख होगा क्योंकि वो धार्मिक है वो ईमानदार है उसकी निष्ठा है नहीं यही तो उचित है और वो ऐसे परमात्मा को कभी नहीं मान सकता जो अनुचित कर रहा हो वो इतने कष्ट सह करके भी उचित न्यायपूर्वक जीवन जी रहा है ऐसा व्यक्ति अधार्मिकों को सहयोग करने वाले परमात्मा को कैसे स्वीकार कर सकता है उसकी पूजा कैसे कर सकता है उसकी भक्ति कैसे कर सकता है भावना नहीं रहेगी परमात्मा के प्रति यदि हमें भावना बनाए रखनी है अच्छे ऊंचे स्तर पर भावना बनाए रखनी है और अधिक से अधिक लोगों में भावना बनी रहे परमात्मा के प्रति तो हमें सत्य को तो यथावत ही प्रस्तुत करना होगा ये तात्कालिक उपाय हैं कि सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है ये कहते रहिए लोगों में बड़ी भावना होगी यथार्थ को छोड़ करके केवल कुछ देर के लिए भावनाएं उठेंगी कुछ व्यक्तियों में उठेंगी और वो उठेंगी भी तो ऊपर ऊपर से अंदर से तो वो मान ही नहीं रहा है अंदर से तो अपना कर्तृत्व तो मान ही रहा है उस प्रत्यक्ष को वो कैसे झुटला सकता है जो प्रत्यक्ष उसके अंदर बैठा है जो प्रत्यक्ष ज्ञान उसके अंदर बैठा है उसको वो कैसे नकार सकता है उससे कोई आत्मा मुख नहीं फेर सकती वो तो दिखाई दे रहा है उसको तो ऐसी बातों से परमात्मा के प्रति आदर भक्ति कभी स्थायी नहीं हो सकती और कभी गहराई में नहीं जा सकती और व्यापक रूप से भी इसका दुष्प्रभाव ही आता है सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है कि ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो सारा काम परमात्मा ने करवाया है मैंने थोड़ा किया है कहने वाला भी समझ रहा होता है कि मैंने बहुत ईश्वर समर्पण कर दिया है लेकिन कहने वाले के मन में भी संदेह है और सुनने वाले के भी लेकिन ये कोई बोल नहीं सकता बोलने की स्थिति नहीं आवरण ऐसा बना रखे हैं प्रतिष्ठा ऐसी बना रखी है लोकलाज ऐसी बना रखी है कि ऐसा बोलते ही तो कोई दूसरा कहेगा ये तो ईश्वर को नहीं मान रहा इसकी ईश्वर भक्ति में कुछ कमी है उस यथार्थता को कोई उभारे भी तो ऐसी बातें साथ में जुड़ जाती हैं कि वो व्यक्ति बोलना ही पसंद नहीं करता अंदर आशंका रहती है कोई बड़ा कार्य किया सामाजिक निष्काम भाव से तो ये तो सब परमात्मा ने करवाया है मेरी तो स्थिति ही नहीं थी उसी की कृपा है मेरा तो कुछ नहीं है ये यथार्थता से परे कुछ अतिशयोक्ति में कहे गए वाक्य होते हैं हमें इनमें भी संतुलन करना है परमात्मा सकल ऐश्वर्यदायक है परम ऐश्वर्यदायक है ये स्वीकारते हुए भी अपने कर्तृत्व को हमें अवश्य स्वीकारना है और संसार के समस्त ऐश्वर्यों में परम ऐश्वर्य तो परमात्मा का स्वयं का आनंद और ज्ञान है संसार के समस्त ऐश्वर्य परमात्मा के ऐश्वर्य के सामने नगण्य है उस ऐश्वर्य को देने वाला परमात्मा है हमारा केवल प्रयत्न है किसी विशेष स्थिति तक पहुंचने का अत्यंत पवित्र बनने का बाकी परमात्मा देता है इस रूप में वो परम ऐश्वर्य का दायक है सबसे बड़े ऐश्वर्य का दायक है और सबसे बड़ा वो ऐश्वर्य का दायक है पर वहां भी इतना तो हमें स्वीकार नहीं होगा जितना परमात्मा भी स्वीकारते हैं कि ये व्यक्ति योग्य है इसने इस स्थिति को प्राप्त किया है परमात्मा भेद करता ही है सबको अपना आनंद नहीं दे देता तो इस रूप में यदि कोई साधक कोई योगी जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है वो अपने को अन्यों से विशिष्ट मान ले तो इसमें कोई गर्व नहीं है घमंड नहीं है ये वास्तविकता को स्वीकारने तक यथार्थ था दूसरे को हीन नहीं समझना दूसरे की उपेक्षा नहीं करना ये कुछ नहीं है ठीक है मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं योग दर्शन में एक श्लोक में एक बात भी कही है जब सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा या अत्यंत ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है व्यक्ति तो वो अन्यों को कैसे देखता है भूमि स्थान एवं शैलस्थ सर्वान प्राज्योनुपश्यति स्वयं पहाड़ की चोटी पर बैठा है और अन्यों को भूमि में नीचे देख रहा है छोटे छोटे छोटे छोटे दूर बिल्कुल नीचे ऊपर जो चढ़ चुका है इतनी ऊंचाई पे अपने को ऊपर देख रहा है और अन्यों को नीचे देख रहा है ये यहां तक चढ़ नहीं पाए हैं नीचे ही हैं अभी वहीं रुके हुए हैं उनकी गति वहीं तक है ये वो देखता है ये वास्तविकता है कि मैं राग द्वेष मोह से ऊपर उठ गया हूं और ये अभी वहीं फंसे हुए हैं ये कोई गर्व की बात नहीं है ये यथार्थता को स्वीकारना है आत्मवत भाव का ये मतलब नहीं होता है कि सब को बिल्कुल समान समझना मूलतः सब समान है लेकिन अपने अपने प्रयत्न के आधार पर कोई उच्च प्रगति तक पहुंच गया है कोई सामान्य प्रगति तक है ये स्वीकार करना कोई दोष नहीं है शास्त्र में इसका कोई विरोध नहीं था तो इसी तरह से इन विभिन्न ऐश्वर्यों को पा करके आध्यात्मिक ऐश्वर्य और भौतिक ऐश्वर्य बाह्य ऐश्वर्य आंतरिक ऐश्वर्य इनको पा करके भी अपना कर्तृत्व स्वीकारते हुए हम इन ऐश्वर्यों को देने वाला परमात्मा को स्वीकारते हैं और परम ऐश्वर्य के देने वाले परमात्मा को स्वीकार करते हैं ये यथार्थ दृष्टि परमात्मा के प्रति हमारी रहे हम परमात्मा को छोड़ करके मात्र स्वयं को या अन्य मनुष्यों को ऐश्वर्य का देने वाला न समझ लें वहीं तक सीमित ना रहें परमात्मा को भी स्वीकार करें ये भाव भक्त के मन में होना ही चाहिए और अति में न जाते हुए यथार्थ में रहते हुए इस भावना को हम रख सकते हैं ईश्वर के प्रति आदर सम्मान उतना ही बनाए रखते हुए रख सकते हैं परमात्मा के ओम नाम का अर्थ की भावना के साथ उच्चारण करेंगे ओ